ये तस्माच प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषत्व निवर्तते इसमें श्रुति प्रमाण दिया ब्रह्म ज्ञान से काम कर्म प्रवृत्ति का कारण संसार का बीज अज्ञान निवृत्त हो जाता है समुच्चयवादिनु अभिप्राय संकते कुछ लोग मानते हैं ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा ज्ञान के साथ कर्म करे ज्ञान कर्म समुच्चय वदंती मोक्ष साधना ज्ञान कर्म का समुच्चय तो समुच्चयवादी न समुच्चयवादी है उनका अभिप्राय कहते हैं समुच्चयवादी न समुच्चयवादी प्रथमांत है षष्ट्यंत समुच्चयवादी न प्रथम बहुवचन भी बनेगा समुच्चयवादी न समुच्चय कहने वाले ज्ञान कर्म समुच्चय ही मुख्य साधन केवल ज्ञान नहीं कोई आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान हो गया इतने मात्र से क्या फल मिलेगा उसके बाद औषध निर्माण करो औषध प्रयोग करो कर्म करो तभी तो लाभ होता है इसी प्रकार ब्रह्म के ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके बाद कर्म करे तो उनका अभिप्राय शंका करते कर्म सहित आदपीति भाष्य में कर्म सहितादपि ज्ञानादेत सिद्ध्यति चेत जो ज्ञान से मुख्य कहा गया अज्ञानी की निवृत्ति होती है कर्म सहितादपि ज्ञानात् कर्म सहित ज्ञान से भी ये सिद्ध हो जाएगा इति चेत न अर्थात कर्म भी करना चाहिए टीका में एकाध्ययन विधि परिगृहितत्वात् कर्म ज्ञान कांडे रेकम फलम वाच्यम तत कर्म समुचिता ज्ञानात सन्निधान संसार निवृत्ति लक्षणम फलम सिद्ध्यति इति न कर्म सुविरक्त से उपनिषद आरंभ इत्यर्थ क्योंकि ये कहा कर्म कर्म फल से विरक्त होने पर ही ये उपनिषद शब्द जन्य ज्ञान का अधिकारी होता है वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा विरक्त से प्रत्येगात्म विषय विज्ञान होता है कहा तो पूर्व पक्षी कहता है एक अध्ययन विधि अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्येतव्य स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन करना चाहिए अपने शाखा वेद अध्ययन करने के लिए विधि स्वाध्याय अध्येतव्य जिस प्रकार स्वाध्याय अध्येतव्य विधि के द्वारा कर्मकांड का अध्ययन होता है ये संपूर्ण वेद का अध्ययन उसके द्वारा वीत है ज्ञान कांड का भी अध्ययन होता है उसी विधि से तो एक ही अध्ययन विधि है एक अध्ययन विधि के द्वारा दोनों का ग्रहण होता है संपूर्ण वेद का ग्रहण होता है संपूर्ण वेद में कर्म कांड ज्ञान कांड तो एकाध्ययन विधि परिगृहितत्वात् कर्म का ज्ञान कांडयोर एकम फलम वाच्यम कर्म ज्ञान कांडयो कर्म कांड और ज्ञान कांड ये दोनों ही एक अध्ययन विधि के द्वारा परिगृहित संग्रहित हो जाते हैं स्वाध्याय अध्यतव्य कह करके कर्मकांड उपनिषद सब पढ़ने के लिए कहा गया तो दोनों का एक फल कहना चाहिए क्योंकि अध्ययन विधि एक एक अध्ययन विधि से अध्ययन होगा अध्ययन जन्य कर्म का उपनिषद श्रवण कर्ण से ज्ञान होता है कर्म का ज्ञान होगा कर्म अनुसार करेगा तो एक ही फल कहना चाहिए तो कर्म कांड का ज्ञान कांड एक फल का अर्थ ज्ञान और कर्म समुचित होकर के ही मोक्ष फल देंगे ततः कर्म समुचिता ज्ञानात् कर्मे कर्म भी समुचितम ज्ञानम कर्म से युक्त ज्ञान से मोक्ष होगा सनिदान संसार निवृत्ति लक्षणम फलम संसार निवृत्ति है सनिदान निदान न सहित सनिदानम सनिदान संसार निदान है मूल कारण मूल कारण अज्ञान है अज्ञान के साथ अज्ञान का कार्य पूरा संसार उसकी निवृत्ति है यही फल है संसार निवृत्ति लक्षणम यस्य फलस्य तत्फलम संसार निवृत्ति लक्षणम सन्निधान संसार निवृत्ति आत्मक फल कर्म सहित सहित ज्ञान से ये फल सिद्ध होता है यदि कर्म सहित ज्ञान से फल सिद्ध होता है इति इसलिए क्या से हुआ न कर्म से विरक्त से उपनिषद आरंभ तो कर्म में जो विरक्त हो गया उसके लिए उपनिषद आरंभ हो ये तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि कर्म भी करेगा तब उपनिषद श्रवण करेगा ज्ञान होगा दोनों चाहिए कर्म से विरक्त से कर्म में विरक्त हो गया कर्म फल से विरक्त हो गया तब उसका उपनिषद उसके लिए आरंभ तो ठीक नहीं हुआ ये शंका कर्म सहितादपि ज्ञानादेत सिद्ध्यति शंका का अभिप्राय हुआ सिद्धांति का अभिप्राय कहते हैं अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण कर्मकांड से न मुख्य फलत्व कल्पयितुम शक्यम फलांतरावगम विरोधाद इत्याह अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण स्वाध्याय अध्यतव्य अध्ययन विधि अध्ययन की विधि के द्वारा संग्रह हो गया कर्मकांड ज्ञान कांड तो ज्ञान कांड का जो फल अध्ययन विधि उसी अध्ययन विधि के द्वारा परिगृहित स्वीकृत कर्मकांड होने से कर्मकांड का भी वही फल होगा मुख्य रूप फल ये ठीक नहीं अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण अध्ययन विधि के अंतर्गत सब ग्रहण हो जाने से इतने मात्र से कर्मकांड का न मुख्य फलत्वम कर्मकांड का फल मुख्य रूप फल नहीं है ये ही तुम न सके इसे कल्पना नहीं कर सकते एक अध्ययन विधि से परिगृत होने से दोनों का फल एक क्यों कल्पना कर नहीं करेंगे तो उसका उत्तर देते फलांतर आवगम विरोधात अन्य फल ज्ञान होता है दर्श अभ्याम यजित स्वर्ग काम तो कर्म का फल स्वर्ग आदि अन्य फल है फलांतरम मोक्ष से अन्य अन्यत फलम फलांतरम मोक्ष से भिन्न स्वर्ग आदि फल स्वर्ग आदि फल अवगम विरोध अवगम ज्ञान स्वर्ग आदि फल का ज्ञान होता है वाक्य में आया कर्म यजित स्वर्ग काम कारिर्या यजेत वृष्टि काम चित्रया यजेत पशु काम अलग अलग फल के लिए कर्म विधान किया गया तो मोक्ष से भिन्न फल का ज्ञान अवगम का ज्ञान होता है उसका विरोध होने से मोक्ष फल कल्पना करेंगे तो मोक्ष से अन्य फल कैसे होगा मोक्ष से अन्य फल के लिए कर्म विधान किया गया इसलिए मुख्य फल नहीं होगा और कर्म ज्ञान मिलकर के मोक्ष फल देंगे तो अन्य फल का कथन नहीं करना चाहिए था श्रुति में कहा गया अन्य फल इसलिए सिद्धांती कहता है कर्म कांड का फल मोक्ष रूप ऐसा नहीं कल्पना नहीं कर सकते है सिद्धांति कहता न वाजसनेय के तस्य अन्य कारणत्व वचनात् अन्य का कारण कर्म तस्य कर्म अन्य कारणत्व अन्य स्वर्ग आदि का कारण कहा गया कैसे कहा गया वाजसनेय शाखा में बृहदारण्य में आया जाया में स्यात् अथ कर्म कुरवी कर्म करूं ऐसे कह करके अंत में पुत्रेण अयम लोको जयो नान्यन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इति आत्मनो अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम बाज वाजसनेयके ये पुस्तक में पदभाष्य वाक्यभाष्य दोनों है बाएं तरफ केवल पदभाष्य अभी चल रहा है केवल बाएं तरफ देखना दाहिनी तरफ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आत्मनो अन्य से लोकत्र आगे षष्ठ पृष्ठा के बाद अष्टम पृष्ठा देखना है कारणत्व मुक्तम बाजसन्निय के जाया में स्यात वित्त पुत्र आदि हो कर्म करूं आरंभ करके अंत में कहा पुत्रेण अयम लोको जय्य क्षय जयौ शक्यार्थे जे तुम शक्यम ये लोक पुत्र से जीत सकते हैं नान्य न कर्मणा अन्य कर्म से नहीं और कर्मणा पितृलोको जय कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है विद्या देवलोक विद्या है उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है इति आत्मनो अन्यस्य आत्मा से भिन्न है अनात्मा रूप फल लोकत्रय है तीनों लोक यह लोक पितृलोक देवलोक अनात्म रूपे लोक लोकत्रय से कारणत्व मुक्तम कर्मण कर्म उपासना कर्म कांड है कारण लोकत्रय तीन लोक का कारण आत्मा के लिए मोक्ष का कारण नहीं है है मैं किंच यदि श्रुते है कर्म समुचित ज्ञानम विधिथितम स्यात् तदा पारिव्राज्यम नोपदिश्यत श्रुत्या हेतु विधानेन ततो न समुचय श्रुत्यर्थ इत्याह यदि किंच यदि श्रुते कर्म समुचित ज्ञान विदितम श्रुति से विधि विधित विधात्मिष्टम कर्म समुचित ज्ञान कर्म भी समुचितम ज्ञानम विधितम कर्म समुचित ज्ञान विधात करना करना इष्ट होता श्रुति का यही कर्म समुचित ज्ञान मुख्य साधन ऐसे कहना उद्देश्य होता तब पारिव्राज्य संन्यास विधान नहीं करना चाहिए था श्रुति में तथा पारिव्राज्य नोपदिश्यत पारिव्राज्य का उपदेश नहीं करना चाहिए श्रुत्या श्रुति में पारिव्राज्य का उपदेश किया गया केवल पारिव्राज्य कहा नहीं हेतु अभिधान है ना हेतु कथन कर कहा उसका हेतु दिया कर्म आदि का सो त्याग संन्यास का विधान किया गया तत्व तो न समुचय श्रुति अर्थ इसलिए कर्म ज्ञान का समुचय मुख्य साधन है इसे श्रुत्यर्थ नहीं है इतिहास सिद्धांति कहता है भाष्य में तत्रैव च पारिव्राज्य विधान हेतु रुक्त वही वाजसन्य शाखा में पारिव्राज्य परिव्रजति परिव्राट तस्य भाव पारिव्राज्यम परिव्राज भाव पारिव्राज्यम पारिव्राज्य से विधान पारिव्राज्य संन्यास के विधान विधान में हेतु कहा गया किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मायम लोक प्रजा से हम क्या करेंगे प्रजा से पुत्र से धन से पत्नी से हम क्या करेंगे येषाम न अयम आत्मा अयम ऐसा न अस्माकम ये सब लोक है कर्म फल अय आत्मा ही है सारे कर्म फल हमारा स्वरूप ही है न अस्माकम अयम आत्मा यह आत्मा ही अयम लोक अयम लोक का था यह लोक कर्म फल तीनों लोक जितने लोक तीनों लोक ब्रह्मांड कर्म फल है ये तो अपना आत्मा ही है आत्मा होने से ज्ञान होने से नित्य प्राप्त है आत्मा तो जो लोकतर प्राप्ति का साधन प्रजा पुत्र धन आदि है वो क्या जरूरत है वो तो अपना स्वरूप ही लोक है हेतु कह करके पुत्र आदि सब का परित्याग सन्यास विधान किया गया और उसके हेतु जो दिया है हेतु का अर्थ करते हैं टीका में पहले प्रजा शब्द से उपलक्षणार्थत्वम आदय अर्थमाह किम प्रजया करिष्याम प्रजा से हम क्या करेंगे केवल प्रजा नहीं प्रजा लेना अन्य भी लेना कर्म साधन धन आदि पशु आदि कोई जरूरत नहीं सारे लोक है कर्म फल उपासना का फल यह लोक हो पितृलोक हो देवलोक हो अब सारे लोक ही हमारा आत्म स्वरूप है वो तो ज्ञान से सब नित्य प्राप्त है उसके लिए क्यों कर्म करना कर्म साधन की क्या आवश्यकता है तत्रायम में हेत्वर्थ इसमें जो बृहदारण्य में कहा गया उसमें हेतु का अर्थ कहते हैं प्रजा कर्म तसंयुत विद्याभिर मनुष्य पितृलोकत्र अनात्म अनात्मलोक प्रतिपत्ति कारण ही किं करिष्याम किम प्रजया करिष्याम यहाँ का अर्थ प्रजा से कर्म से पितृलोक होता है पुत्र से यह लोक प्रजा है पुत्र कर्म करने से पितृलोक कर्म करने के लिए पशुधन आदि चाहिए और कर्म तसंयुक्त प्रजा कर्म तसंयुक्त विद्या भी कर्म समुचित कर्म संयुक्त कर्म समुचित विद्या उपासना तो प्रजा किम करसे हमें कहता प्रजा कर्म और उपासना इन सब क्या करेंगे पुत्र से यह लोक की प्राप्ति कर्म से पितृलोक की प्राप्ति और उपासना से देवलोक की प्राप्ति ये तीनों लोक ही हमारा आत्मस्वरूप ही है अपने से भिन्न नहीं है इनसे क्या प्राप्त क्या लाभ है क्योंकि ये तो इतने केवल मनुष्य पितृलोक त्रय साधन ही मनुष्य लोक का साधन प्रजापुत्र है पितृलोक का साधन है कर्म और देवलोक प्राप्ति का साधन उपासना है तो मनुष्य पितृ देवलोक त्रय साधन ही मनुष्य पितृ देवानाम लोकाना लोकानाम त्रयम लोकत्रयम उनका साधन है प्रजा कर्म उपासना प्रजा कर्म उपासना जो तीनों लोग प्राप्ति का साधन है ये हमको क्या जरूरत उसे वो तो अनात्म लोक प्रतिपत्ति कारण ही आत्मा से भिन्न अनात्म है यह लोक पितृलोक देवलोक अनात्म लोक प्राप्ति का कारण है ये प्रजा कर्म उपासना अनात्म लोक प्राप्ति का कारण उनसे हम क्या करेंगे किम परिश्याम न च अस्माकम लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्यम इष्टम जो लोकत्रय है अनित्य है यह लोक हो पितृलोक हो देवलोक हो वो अनित्य है साधन साध्यम जो साधन से प्राप्त होने वाले बिना साधन से प्राप्त हो जाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है लोक में सब चाहते सबसे बड़ा हो जाए हम जाए अद्वितीय वक्ता बन जाए काल इतने से नहीं होता है जिनका कुछ पुण्य है पूर्वक पुण्य वही विख्यात होते हैं तो पुण्य से विख्यात हो गया तो कृतकृत हो जाएगा ना हाँ पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है यह लोक विख्यात होना उससे अधिक फल है स्वर्ग लोक प्राप्ति स्वर्ग लोक देवलोक प्राप्ति में अधिक पुण्य चाहिए यहाँ कोई धन संपत्ति मिल गया उसके लिए पुण्य चाहिए तो साधन से साध्य होता है पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवः न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्न यत्नतः हाँ। बड़े प्रयत्न से पाप करते पाप फल कोई नहीं चाहता है अब पुण्य का फल सुख धन संपत्ति ख्याति सब चाहते हैं पुण्यम नेच्छन्ति पुण्य नहीं करना चाहते हैं तो साधन साध्य होता है यहाँ भी यदि दुख अधिक मिलता है उसका साधन उसका कारण क्या है किसका पाप स्वयं जो दुख भोगता है उसका ही पाप और सुख मिलता है तो क्या कारण है पुण्य किसका हाँ तो अपने कर्म का फल अपने को भोगना पड़ेगा जितने लेकर आगे इतने भोगना होगा और अधिक सोचेंगे तो अधिक मिल जाएगा सब लोग सोचे हम राष्ट्रपति बन जाए भगवान भी विचारा क्या करेंगे कितने को राष्ट्रपति बनाएंगे सब लोग ध्यान कर हमको राष्ट्रपति बना दो कहाँ बन जाएगी जिसका कर्म में हुई बनेगा इच्छा नहीं होने पर भी राजा बनता है और इच्छा नहीं इच्छा हो तो भी नहीं बन पाएगा अन्य लोग कर्म फल भोगना पड़ता है अधिक कम नहीं होता है इसलिए यहाँ कैसे हम सुख से रहे कैसे उत्कर्ष मिल जाए ये सब भावना छोड़ करके अपने कर्तव्य करें परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए बहुत लोग ही करते प्रयत्न कि यहाँ शाम को धन शब्द बहुत मिल जाए विख्यात हो जाए बड़े प्रसिद्ध हो जाए यही करते करते जीवन चला जाता है इसलिए प्रारब्ध कर्म के फलों को समझ करके जो प्रारब्ध में वही मिलेगा कम ज़्यादा होने वाला नहीं है और उसके लिए बहुत मिल जाए बहुत मिल जाए करके सोचते सोचते पाप कर्म निषिद्ध कर्म भी करने लग जाते हैं सुख प्राप्ति के लिए तो इसी जन्म में जो पुण्य लाए पाप लाए उसको तो भोगना पड़ेगा अब इस जन्म में पाप कर्म करेंगे तो उसको भोगने के लिए आगे जन्म लेना पड़ेगा कैसा ऐसे मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा पाप कर्म का फल भोगने के लिए पशु पक्षी से लेकर नरक तक बहुत जन्म है कोई मनुष्य जन्म को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं बहुत जन्म है भोगने के लिए इसलिए साधन साध्य होता है यह लोग पितृलोक देवलोक साधन साध्य है और साधन साध्य जो होगा वो अनात्मा ही है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा या पेड़ काटना पड़ेगा मिट्टी खोदना पड़ेगा अपने स्वरूप का नित्य प्राप्त है कुछ करना नहीं अज्ञान से मेरा स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप मेरे स्वरूप का तो समझ लता है तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ मेरे स्वरूप कहीं उधर गएंगे मेरे स्वरूप तो मैं ही हूँ देह में नहीं हूँ नित्य प्राप्त है स्वरूप आत्मा से भी अनात्मा है वो साधन साध्य किम प्रजा करिष्याम कह करके ये प्रजा पशु पुत्र आदि से जो प्राप्त होता है ये सब अनात्मा है मनुष्य पितृ देवलोक त्रय साधने अनात्म लोक प्रतिपत्ति कारण ही किं करिष्याम न च लोक त्रय अनित्यम लोकत्रय अनित्य है साधन साध्यम साधन से जो प्राप्त होता है वो इष्ट नहीं है जो अनित्य है इस लोक परलोक लोक आदि वो हमको इष्ट नहीं क्योंकि अनित्य है साधन से जो प्राप्त होगा अनित्य है ये शाम नोयम आत्मायम लोक ये शाम अस्माकम न न का तस्माकम तो हमारे आत्मा ही लोक ही आत्मा ही है स्वाभाविक आत्मा कैसा है स्वाभाविक अज अजर अमृत अभयो न वर्धते कर्मणा नु कन्यान नित्य से लोक इष्ट हमको तो नित्य फल चाहिए जो स्वभावतः नित्य अजन्मा अज अजर है जरा रहित मृत्यु रहित भय रहित जो न वर्धते कर्म ना नो कनिया न तो पुण्य कर्म से बढ़ जाएगा आत्मा अथवा पाप कर्म से घट जाएगा छोटा हो जाएगा ये कुछ नहीं ये नित्यश्च लोक हमको नित्य ही मोक्ष रूप फल इष्ट है सब लोग नित्य फल चाहते सुख अनित्य नहीं चाहते विवेक नहीं होने से वो अनित्य के पीछे भागते हैं मिल जाए मिल जाए जब हमको नित्य फल चाहिए और ये जितने कर्म साध्य फल सो अनित्य ही अनित्य साध कर्म अनित्य फल का साधन प्रजा आदि कर्म से क्या हम करेंगे करेंगे सच नित्यत्व ना विद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य तस्मात् प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वेषणा सर्वेषणा संन्यास एव कर्तव्यति सच नित्यत्वान जो नित्य है नित्य होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए कुछ साधना नहीं नित्य तो नित्य प्राप्त ही है तो नित्य प्राप्त है तो फिर क्यों साधना करना क्या जरूरत है नित्य प्राप्त होने पर भी अज्ञान से दुखी होते हैं तो है दशम स्वयं ही अज्ञान से मर गया करे रोते हैं मर गया दशमा और माला अपने गले में है किंतु अज्ञान से कहा माला खो गई दुखी होते हैं इसी प्रकार नित्य स्वरूप अपने आत्मा मुक्त है अज्ञान के कारण अपने में संसारी तो भ्रम है इसलिए नित्य होने के कारण उसको कुछ करने का नहीं अविद्या निवृत्ति केवल चाहिए ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट होता है दशम की प्राप्ति के लिए अज्ञान नष्ट हो गया तो मैं ही दशम ज्ञान हो गया प्राप्त हो गया माला गले में निश्चय हो गया तो मिल गई माला प्राप्त हो गई तो नित्य जो फल होता है उसके लिए कोई कर्म उपासना किसी साधन की आवश्यकता नहीं केवल अविद्या निवृत्ति चाहिए न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकण अन्य साधन निष्पाद्य नित्य होने के कारण अविद्या निवृत्ति चाहिए अविद्या निवृत्ति के बिना अन्य कोई साधन से संपन्न होगा यह नहीं है और अविद्या निवृत्ति किससे होगी ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही मोक्ष है तस्मात् प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक इसलिए प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया विज्ञानम पूर्वम यस्मात् तद विज्ञान पूर्वक संन्यास ब्रह्म अहमस्मि ब्रह्म ज्ञान हो गया शब्द से सुन करके थोड़ा संशय विपर युक्त ज्ञान हो गया तो भी शब्द से परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ हो गया तो भी सारे ऐसा का त्याग करके फिर मैं ब्रह्म हूँ ये साक्षात्कार करने के लिए विविधि सा संन्यास परोक्ष ज्ञान होने पर अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान के लिए संन्यास सर्वेषणा संन्यास सर्वासाम नाम संन्यास जो संन्यास संन्यास कहते हैं सन्यास का अर्थ ऐसा का सन्यास इच्छाओं का त्याग खाली दीक्षा लेकर के सिखा यज्ञ पे तो फेंक दिया हे ठीक सन्यास विधिवत सन्यास होता है किंतु उसका उद्देश्य है ऐसणाओं का सन्यास तो ज्ञान होने पर प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वेषणा सन्यास एव कर्तव्य सन्यास एव कर्तव्य न तो किम न कर्तव्यम कर्म सर्वेक्षण संन्यास कर्म कर्म साधन कुछ नहीं चाहिए टीका में इष्टोप्ययम आत्मलोक अच्छा उसके पहले किम करिष्यामो न किमपि आत्म कामत्वाद विधिश किम प्रजा करिष्याम प्रजा आदि से हम क्या करेंगे किम करिष्याम यहाँ किम शब्द आक्षेप में किम शब्द कहीं प्रश्न होता कहीं आक्षेप होता है कोई इसको दिया ये क्या करेंगे हम कोई चीज ले को दे दिया ले लो हम क्या करेंगे क्या करें मतलब हमको जरूरत नहीं और क्या करेंगे इसको प्रश्न ये क्या करेंगे ये प्रश्न होगा हम क्या करेंगे किम प्रजा करशाम प्रजा से हमको क्या प्रयोजन है अर्थात कुछ भी प्रयोजन है किम करशाम का तो न किमपि कुछ नहीं प्रयोजन हमारा प्रजा कर्म उपासना से कोई प्रयोजन नहीं क्यों प्रयोजन नहीं सबका तो फल है उसे उत्तर देते आत्म कामत्वाद है वैति से आत्म कामत्वाद आत्म काम आत्मा ही हमको इष्ट और कुछ नहीं चाहिए आत्मा नित्य है अन्य आत्मा काम हो जाने पर अन्य अनात्म प्राप्ति साधन इकट्ठी करेगा अनात्म प्राप्ति के साधन इकट्ठी करता है आत्मा मतलब आत्म काम नहीं आत्म काम हो तो अनात्म प्राप्ति के साधन ही जरूरत नहीं इच्छा ही नहीं उधर देखना ही नहीं टेढ़े दृष्टि से भी तिरछी से नहीं देखना हमेशा ही देखना अपना लक्ष्य क्या है वो लक्ष्य को चलना और दूसरे कोई ख्याति को प्राप्त कर लिया धन संपत्ति इकट्ठ हो गया बड़ा अच्छा लगता उधर देखने लगे उधर देखने लगे तो कभी पता चल नहीं रास्ता भूल कर उधर भी चलने लगे जहाँ महत्व बुद्धि है वहाँ देखते देखते रास्ता में चलते उधर देखते देखते कभी उधर रास्ता में चल पड़े रास्ता कहीं जाना था पहुँच गए कहीं दूसरे स्थान पर इसलिए उधर देखना भी नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त करना ठीक है कोई किसको कुछ मिल गया उधर बड़ा सुंदर दिखता मंदिर हमको जाना है किसी अलग मंदिर है अलग स्थान जाना पड़ा और उधर बड़ा सुंदर मकान दिखता है और देखकर उधर चलने लगे तो लक्ष्य में पहुंच जाएंगे गंगा जी चलना है तो गंगा जी चलना है और रास्ता में कोई बड़ा मकान दिखा आओ क्या दिखता क्या दिखता कर उधर चलने लगे गए तो गया इसलिए वो बिल्कुल अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना है बाकी कहीं कुछ नहीं सब कर्म ऐसा सब का संन्यास ही करना है पूरा त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए आत्मकामत्वात् आत्मकाम होने से प्रजापुत्र आदि से कोई प्रयोजन नहीं तत्फलमुक्त्वा फलम भुक्त्वा क्रमेण मोक्ष संभवाद किमिति प्रजादि सोनादर प्रजा कर्म और विद्या उपासना में अनादर क्यों क्या करेंगे कोई जरूरत नहीं एक ऐसे इस लोक में फल भोग करके स्वर्ग में फल भोगने के बाद देवता देवलोक में स्वर्ग देवलोक में स्वर्ग सुख भोगने के बाद आगे कर्म से मुख्य हो जाएगा तत्फलम भुक्त्वा क्रमेण मोक्ष संभवात किमिति प्रजादि स्वनादर इति आशंका है कर्म उपासना का फल भोगने के बाद क्रम से मोक्ष संभव है तो यहाँ से जाएंगे स्वर्ग में फल भंग करेंगे उसके बाद मोक्ष हो जाएगा फिर प्रजा से अनादर क्यों प्रजादि आदि से क्या लेना कर्म उपासना कर्म उपासना इसमें अनादर क्यों प्रजा शीश लोक पितृलोक देवलोक प्राप्त होने पर आगे मोक्ष हो जाएगा अनादर क्यों इति आशंका करने से कहते च हमको ये च अस्माकम लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्य हमको इष्ट नहीं ये इष्टोप्ययम आत्मलोक कर्मणा बिना न लभ्यते इष्टोप्ययम आत्मलोक पूर्वपक्षी कहता है आपको आत्मा ही इष्ट है इष्टोप्ययम आत्मलोक कर्मणा बिना न लभ्यते कर्म के बिना प्राप्त नहीं होगा पूर्वपक्षी कहता है मोक्ष आपको इष्ट है तो भी कर्म से होगा मोक्ष मोक्ष कर्मजन्य फलत्वा स्वर्गवत पूर्व पक्षी कहता है टीका में टिप्पणी में अनुमान दिया कर्म के बिना प्राप्त नहीं होगा क्यों है नहीं फलत्वाद मोक्ष से मोक्ष से फलत्वाद कर्मणा बिना न लभ्यते कर्मणैव लभ्यते मोक्ष कर्मजन्य फलत्वात् स्वर्गवत अन्यथा स्वभाव मुक्तत्व पूर्वपिछी कहता है ये आत्मलोक आपको इष्ट होने पर भी कर्म के बिना प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मोक्ष तो फल है अन्यथा स्वभाव मुक्तत्व बंध मोक्ष अवस्था और अविशेष पाता अन्यथा यदि फल नहीं मानोगे मोक्ष को अन्यथा के आगे स्वल्प विराम कर दो मोक्ष से आगे थोड़ा चिन्ह कर दो कर्मणा बिना न लभ्यते वहां भी स्वल्प विराम कर लो आत्मलोक कर्मणा बिना न लभ्यते फलत्वात् मोक्षस्य अन्यथा स्वभाव मुक्तत्वे बंध मोक्ष अवस्था रविशेषा अविशेषापाताद यदि स्वभाव से मुक्त आत्मा मानोगे तो स्वभाव मुक्त मतलब स्वभाव कब रहता है बंध अवस्था में मोक्ष अवस्था में हमेशा रहेगा स्वभाव हमेशा रहेगा तो हमेशा ही मुक्त है तो बंध अवस्था मुख्य अवस्था में क्या भेद रहा तो स्वभाव तो मुक्त दोनों अवस्था में मुक्त है जो स्वभाव से मुक्त है तो दोनों अवस्था में मुक्त है बंध मुख्य अवस्था और अविशेषापाताद बंध अवस्था मुख्य अवस्था में कोई भेद नहीं होगा ये ठीक नहीं इसलिए फल मानना पड़ेगा मोक्ष को स्वभाव से मुक्त नहीं आत्मा ऐसा शंका से कहते सच नित्यत्वा न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकण अन्य साधन निष्पाद्य तो फल कुछ नहीं नित्य स्वरूप स्वभाव है स्वभाव तो फिर कर्म बंध मोक्ष में क्या भेद है यही भेद है बंधावस्था में अविद्या व्यवधान है मोक्ष अवस्था में अविद्या की निवृत्ति है तो अविद्या निवृत्ति की आवश्यकता और कुछ नहीं चाहिए कर्म मोक्षे कार्यस्य उत्पाद्यादि असंभवात सम्य ज्ञानाद अविद्या निवृत्त्या फल प्रसिद्धि प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपपते न कर्म कार्य मुख्य इत्यर्थ कर्म मुख्य कर्म मुख्य कर्मजन्य मुख्य उसमें अन्वय करने के लिए कर्म मुख्य कर्म साध्य मुख्ये कार्यस्य मुख्य कर्म कार्यस्य कर्म मुख्य कार्यस्य इत्यत्र मुख्य कर्म कार्य से इति शोधित पाठ टिप्पणी में दिया कर्म मुख्य का अर्थ करना कर्म सा, कर्मणा साध्य मुख्य स्वीक्रिय माने मोक्ष कर्म साध्य ऐसा मानेंगे तो कार्य जो होता है कर्म का कार्य उत्पाद्यादे उत्पाद्य आप्य विकार संस्कार चार प्रकार होता है उत्पाद्य आप्य विकार शास्त्र टिप्पणी में उत्पाद्य आप्य विकार संस्कार्य किंतु मोक्ष उत्पाद्य नहीं है नित्य होने के कारण और वो विकार्य नहीं है वो नित्य हो विकार अविकृत है संस्कार नहीं होगा शुद्ध ही है ब्रीहीन प्रोक्षति प्रोक्षण के द्वारा ब्रीही में संस्कार होता है आत्मा में कोई संस्कार है नहीं और आप्य प्राप्य नहीं नित्य प्राप्त अध्ययन के द्वारा वेदिक प्राप्ति होती है मोक्ष अपने स्वरूप आत्म स्वरूप नित्य उत्पाद्य नहीं आप्य नहीं विकार्य नहीं संस्कार्य नहीं आर संभवत इसलिए कार्य ही नहीं होगा कर्म कार्य उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार चार प्रकार होते हैं चारों प्रकार मोक्ष नहीं होने से मोक्ष कर्म कार्य नहीं है सम्य ज्ञानाद अविद्या निवृत्त्या फल प्रसिद्धि उपपते न कर्म कार्य मुख्य इत्यर्थ तो ज्ञान का फल मोक्ष कैसे कहते हैं यदि कार्य ज्ञान का फल मतलब ज्ञान का कार्य हो गया तो वहां वस्तुतः ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञानाद अविद्या निवृत्तिया फल प्रसिद्धि उपपते फल इसे प्रसिद्धि है अविद्या निवृत्ति होने से फल कह जाते हैं मोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती अज्ञान निवृत्ति होने से मुक्त मुक्त हो गया मोक्ष स्वरूप होने पर भी अविद्या व्यवधान है तम में ज्ञान की क्या आवश्यकता है क्या करेगा समय ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करेगा मोक्ष नित्य स्वरूप नित्य होने पर भी अविद्या से व्यवहित है अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से फल प्रसिद्धि कहते माला मिल गई अज्ञान नष्ट हो गया तो माला मिल गई दसम मिल गया फल प्रसिद्धि फल रूप से प्रसिद्धि हो सकती है न कर्म कार्य मोक्ष फल रूप प्रसिद्ध होने पर भी कर्म कार्य नहीं है ज्ञान का कार्य भी नहीं है ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होगी तो भी मोक्ष कर्म कार्य नहीं है ब्रह्म ज्ञान से अनुभव अवसानता सिद्धये परोक्ष निश्चय पूर्वक संन्यास कर्तव्य ब्रह्म ज्ञान हो गया शब्द सुन करके इतने सुनने पर भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगा इसलिए ब्रह्म ज्ञान से अनुभव अवसानता सिद्ध है अनुभव अवसानम अनुभव में समाप्ति श्रवण मनन निध्यासन करते रहे अनुभव होने तक अनुभव अवसानता सिद्ध है अनुभव में समाप्ति सिद्धि के लिए परोक्ष निश्चय पूर्वक संन्यास कर्तव्य परोक्ष निश्चय होने के बाद संन्यास करना चाहिए तो कर्म ये होते विविधिशा संन्यास सन्यास करना चाहिए कर्म त्याग सन्यास कर्ण से कर्म बंधन आश्रम कर्म करने के लिए नियम नहीं कुछ रहा केवल वेदांत श्रवण मनन निध्यासन ये सन्यासी के लिए सिद्धे च अनुभव अवसान ब्रह्मात्म ज्ञाने स्वभाव प्राप्त सन्यासी इति द्रष्टव्यम और अनुभव अवसाने ब्रह्मात्म ज्ञाने अनुभव अवसाने यस्य से अंत में अनुभव अनुभव है अंत में है ऐसे ब्रह्मात्म ज्ञान हम अस्मि ब्रह्म थोड़े समझ लिया किंतु देहाद में विपरीत ज्ञान अहम बुद्धि संशय है संशय विपरीत वाले ज्ञान को अवयव ज्ञान परोक्ष रूप से कहते हैं अनुभव नहीं हुआ संशय विपरीत नष्ट हो गया तो अनुभव हुआ तो ये अनुभव यदि साक्षात्कार हो गया अहम अस्मि ब्रह्म संशय विपर रहित ज्ञान हो गया तो स्वभाव प्राप्त संन्यास ज्ञान होने पर सब स्वभाव से संन्यास होता है इसको कहते हैं विद्वत संन्यास ज्ञान होने के पहले ज्ञान के लिए जो संन्यास है उसका नाम विविदिशा संन्यास जिज्ञासा होने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़े वेदांत श्रवण करने से समझ लिया तो ये केवल ज्ञान से मुक्त है और ज्ञान ब्रह्म अपना स्वरूप है तो इसको साक्षात्कार करने के लिए फिर संन्यास और कर्म करना क्या जरूरत है कर्म का फल अनित्य है उपासना का फल अनित्य है हमको मोक्ष चाहिए वो ज्ञान साध्य निश्चय हो गया और ज्ञान अपना स्वरूप ही ब्रह्म है इतने होने मात्र से साक्षात्कार करने के लिए सन्यास है उसका नाम विविध दिशा सन्यास और जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद स्वभावत ही सन्यास हुआ स्वभाव प्राप्त सन्यास स्वभाव प्राप्त मतलब कोई विधि से के बिना विधि के बिना वहाँ विधि नहीं है अविधेय उसको कहते विद्व संन्यास मुख्य संन्यास तो ही है ज्ञान हो गया तो सबका त्याग हो गया तेन त्यक्तेन भुंजिता त्यागेन ईशावास्य में कहकर सब कुछ ब्रह्म निश्चय हो गया तो सबका त्याग हो गया तो अविधेय संन्यास होता है विद्व संन्यास सभा प्राप्त संन्यास इति द्रष्टव्यम इत न कर्म ब्रह्मात्मता निश्चय समुच्चय शास्त्रार्थ इत्या इस कारण से भी कर्म और ब्रह्मात्मता निश्चय दोनों का समुच्चय शास्त्र का तात्पर्य इसमें नहीं है कर्म भी करे ब्रह्मात्मता निश्चय होने के बाद भी कर्म और ब्रह्मात्मता निश्चय दोनों एक साथ करना ये शास्त्रार्थ नहीं कर्म सहभावित्व भाष्य में आया कर्म सहभावित्व विरुद्धाच प्रत्ययात्म ब्रह्म विज्ञानस्य प्रत्ययात्म ब्रह्म विज्ञानस्य कर्म सहभावत्व विरोधाच कर्म सहभावी विरोध भावित्व विरोधात् कर्म सहभावी ना सह कर्म सह भवतीति कर्म सहभावी प्रत्यगात्म ब्रह्म ज्ञान कैसा है प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान प्रत्यगात्म ही ब्रह्म है अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा जो साक्षात्कार ज्ञान कर्म सहभावी नहीं है ज्ञान होने के बाद अकर्ता में ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं कर सकता है कर्म करने के लिए तो हम कर्ता भोक्ता कारक साध्य होता है कर्म और अकर्ता ब्रह्म में हूं ज्ञान हो गया तो कर्म हो नहीं सकता कर्म स्वभावित्व का विरोध है प्रत्यात्म ब्रह्म विज्ञान से नई उपात्त कारक फल भेद विज्ञान है न कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्व भेद दर्शनस्य प्रत्यात्म ब्रह्म विशेष्य सहभावित्वम उपपद्यते उपात कारक फल भेद विज्ञान न कर्मणा कर्म होने के लिए ये भेद ज्ञान चाहिए कारक फल भेद ज्ञान उपात गृहीत अनुष्ठित कारक फल भेद कारक फल भेद विज्ञान ये होता है अज्ञान के कारण होता है वेद अध्ययन करने से कर्म कांड में यजेत स्वर्ग काम इत्यादि उसे अज्ञान से प्राप्त होता है कारक में करता हूँ देवता संप्रदान और फल है स्वर्ग आदि ये सब कारक फल भेद विज्ञान है ना कारक फल भेद विज्ञान है ना कर्मणा उपातम कारक फल भेद भेद विज्ञानम येन कर्मणा तत्कर्म उपात कारक फल भेद विज्ञानम कारक फल भेद विज्ञान श्रेही भेद विज्ञान होने पर ही कर्म होता है उपातम उपातम प्राप्तम गृहीतम कारक फल भेद विज्ञानम येन कर्मणा कर्म अनुष्ठान होने के लिए कारक फल भेद विज्ञान होना चाहिए तो उपात तो कारक फल भेद विज्ञान हो गया कर्म जो कारक फल भेद विज्ञान होने पर ही कर्म होता है उपात प्राप्त होने पर कारक फल भेद विज्ञान कर्म होता है इसी कर्म से प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शन से प्रत्यात्म ब्रह्म विशेष स्वाभावितम कर्म होने के लिए कारक फल भेद विज्ञान होना चाहिए ऐसे कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान एक साथ नहीं रह सकता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है सारे सब का निराकरण मैं कर्ता भूता कुछ नहीं प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य प्रत्यस्तमितम सर्वभेद दर्शनम ये न ब्रह्म ज्ञान है न सब भेद दर्शन समाप्त हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म में हूँ अहम अस्मि ब्रह्म का नहीं मैं ही ब्रह्म हूँ बाकी सब अब्रह्म है ये नहीं सब मैं ही हूँ अहम अस्मि ब्रह्म सर्वात्मक ब्रह्म में हूँ सर्वभेद दर्शन समाप्त होने पर प्रत्येगात्म ब्रह्म विषय का ज्ञान होता है प्रत्येगात्म ब्रह्म विषय से विज्ञान से स्वाभावित्व नहीं उपपद्यते एक साथ तो नहीं हो सकता है अहम ब्रह्म अकर्ता भोक्ता ब्रह्म में हूं ज्ञान और मैं कर्ता होता हूं ज्ञान कर्म करेगा दोनों एक साथ नहीं हो सकता है स्वाभावित्व नहीं उपपद्यते टीका में ननु कर्मवत ब्रह्म ज्ञान से विदित अनुष्ठेयत्वाद विदेश विनियोज्यादि अपेक्षितत्वाद कथम सर्वभेद दर्शन प्रत्यस्तमय उच्यते ब्रह्म ज्ञाने सति इत्याशंक्या कर्मवत ब्रह्म ज्ञान से विदित अनुष्ठेयत्वात् कर्म विधि से अनुष्ठेय होता है जैसे विधान किया गया इसे करना है कर्म से जैसे विदित अनुष्ठेय है वैदिक विधान से कर्म अनुसार किया जाता है ठीक ब्रह्म ज्ञान भी तो वैदिक वाक्य से होगा अपने आप ब्रह्म ज्ञान नहीं आचार्य मुख से वेदांत श्रवण करने से होता है कर्म जैसे वैदिक विधि वाक्य से अनुष्ठेय होता है ब्रह्म ज्ञान भी वेद वाक्य से होगा अनुष्ठेय ज्ञान भी प्राप्त करना वेदांत श्रवण करने पर तो कर्म जैसे अनुष्ठेय हुआ भी वैसे वेद के द्वारा वैदिक है वेद वाक्य से होगा विधि होने के लिए विनियोज्यादि भेदापिचितत्वादम और जिस प्रकार कर्म करने के लिए विधि है इसी प्रकार ज्ञान के लिए तद विजिज्ञासस्य विधि आत्मा बारे द्रष्टव्य से आदि ज्ञान होने के लिए श्रुति विधि में श्रुति में विधान है उसमें विनियोज्य नियोज्य होता है स्वयं में करता जो ज्ञाता जिज्ञासु है और उसमें विनियोज्य होगा उसके साधन होगा फल होगा विधि होने के लिए साधना आदि चाहिए तो भेद साधना आदि भेद नहीं होगा तो विधि नहीं बनेगी तो जैसे कर्म विधि सापेक्ष हुआ ब्रह्म ज्ञान भी वैदिक है तो वहां भी नियोज्य आदि भेद सापेक्ष हुआ भेद सापेक्ष होने से सर्व भेद दर्शन प्रत्यस्तमय ब्रह्म ज्ञान होने पर सारे भेद दर्शन का की समाप्ति कैसे होगी ब्रह्म ज्ञान होने के लिए जो ज्ञाता है ज्ञाता ज्ञेय ब्रह्म होगा और साधने वेदांत वाक्य ये सब तो भेद रहेगा सारे भेद दर्शन समाप्ति कैसे कहते हो ब्रह्म ज्ञान होने पर इत आशंक कहते ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है वस्तु प्राधान्य सति अपुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञानस्य ब्रह्म विज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है पुरुष तंत्र में समास कैसे होगा पुरुष तंत्र का तो प्रधान पुरुष प्रधान जिसमें पुरुष तंत्रो तंत्र प्रधान यस्मिन तंत्र है प्रधान पुरुष है प्रधान जिसमें सब पुरुष तंत्र पुरुष प्रधान किसमें उपासना में वस्तु वस्तुतंत्रम भवे ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासनम ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है इच्छा नहीं करने पर भी प्रमाण के साथ विषय संबंध हो गया तो ज्ञान हो जाता है और पुरुष तंत्र होता उपासना वो चाहे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति वो कर्तृ तंत्र होता है ज्ञान होता है ब्रह्म विज्ञान पुरुष तंत्र ने अपुरुष तंत्र प्रमाण प्रमाण वस्तु वस्तु तंत्रम वस्तु प्राधान्य सति वस्तु और प्रमाण के अधीन होता है ज्ञान वस्तु तंत्रम भवेद ज्ञानम वस्तु यदि है और प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी वस्तु प्राधान्य सति वस्तु प्रधान है वस्तु है प्रमेय वस्तु है तो वस्तु के अनुसार ही ज्ञान होगा पुरुष तंत्र है अपुरुष तंत्र पुरुष तंत्र नहीं है प्रमाण के अधीन प्रमाण तो ज्ञान हो जाएगा इसलिए इसके लिए कोई कारक आदि भेद की आवश्यकता नहीं है टीका में नहीं भाष्य में पहले ठीक क्या है विधिजन्य प्रयत्न भाव्य हुई विधि विषय उच्यते ज्ञानम न तथा इति तद विधिर तथ पूर्व पक्ष ने कहा जैसे कर्म विधि से कर्मानुसार किया जाता है जैसे ज्ञान विधि से ज्ञान अनुसार किया जाएगा दोनों वैदिक हो गया विधि अधीन हो गया इसलिए विधि के होने के लिए कारक भेद चाहिए और कारक भेद यदि है तो सारे भेद समय ज्ञान होने पर कैसे होगा ये पूर्व पक्षी की शंका थी सर्व भेद दर्शन समाप्त कैसे होगा भेद दर्शन होगा तो ज्ञान होगा सिद्धांत कहता है विधि का विषय जो कहते हैं ज्ञान विधि जन्य प्रयत्न भाव्य ही विधि विषय उचित विधि जन्य प्रयत्न साध्य को विधि का विषय विधि यजेत स्वर्ग काम विधिजन्य प्रयत्न करता है पुरुष पुरुष प्रयत्न याग करने से साध्य होता है स्वर्ग याग तो विधिजन्य प्रयत्न भावी होता है याग प्रयत्न साध्य होता है याग वो विधि का विषय होगा ज्ञानम न तथा ज्ञान ऐसा नहीं विधिजन्य प्रयत्न साध्य नहीं ज्ञान में विधि नहीं होती है विधि तो वही होगी जहाँ जो पुरुष स्वतंत्र हो जो पुरुष कर सकता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति वहाँ विद्धि होती है ये करे उपासना है पुरुष तंत्र वहाँ विद्धि है कर्म पुरुष तंत्र विधि है ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं इसलिए निषेध करने पर भी यदि इंद्रिय संबंध हो गया विषय है तो ज्ञान हो जाएगा नहीं चाहने पर भी दुर्गंध ग्रहण होता है इसलिए ज्ञान में विधि नहीं है आत्मा बारे द्रष्टव्य जो द्रष्टव्य कहा गया तव्य प्रत्यय विद्धि में नहीं है क्योंकि ज्ञान में विद्धि नहीं होती है तो वहां दर्शन योग्य है ऐसा कहा गया जैसे कहते इसको देखो देखो तो दर्शन जन व अनुभव दर्शन चक्षु से दर्शन ज्ञान प्राप्त करो ज्ञान का विधान हो गया वस्तु तो ज्ञान का विधान नहीं होता है इसको देखो करके किसको दिखाएंगे तो इसको देखो इधर मुख करो चक्षु संयोग करो चक्षु संयोग होगा तो ज्ञान हो जाएगा मना करेंगे तो इधर देखो कहेंगे इसको नहीं नहीं देखो इसको देख दिया तो ज्ञान हो जाएगा इसलिए जो देखो कह करके दर्शन ज्ञान का विधान किया गया लगता है ज्ञान का विधान है ज्ञान के साधन का विधान ज्ञान का साधन अभिमुख हो जाओ मुख नीचे कर रखे तो ये दिखता नहीं इधर देखो तो इधर कर दिया देखते ही आंख पुष्प का ज्ञान हो जाएगा तो वहाँ ज्ञान के साधन का विधान होता है लोक में भी इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा पर दृष्टव्य कह करके दर्शनार्ह कह करके उसका साधन श्रवणादि का विधान होता है ज्ञान में विधि नहीं सिद्धांत कहता है विधि का विषय होने के लिए विधिजन प्रयत्न साध्य होना चाहिए ज्ञान ऐसा नहीं है विधिजन कुछ प्रयत्न होने से होता नहीं ज्ञान तो प्रमाण तंत्र है विधि जन्य पर इतन साध्य नहीं न तथा इति तद विधि रसिद्धि ज्ञान की विधि नहीं है श्रुति में विधि का सिद्धि है विधि सिद्ध होने से वहां यदि विधि हो भेद ज्ञान होता तो सर्व भेद प्रत्यस्तमय संभव नहीं तो यहाँ विधि नहीं है तो ज्ञान के लिए कोई भेद की आवश्यकता नहीं यस्मात् प्रत्यगात्मनो ब्रह्मता निश्चयस्य परोक्षस्य अपरोक्षस्य वा कर्मणा समुचय न प्रामाणिक तस्माद इति उपसार न ब्रह्मता निश्चयस्य प्रत्येगात्मा में ब्रह्म अभिनत्व निश्चय अहम अस्मि ब्रह्म प्रत्येगात्मा शुद्ध चिद्रूप रूप ब्रह्म ही है ऐसा परोक्ष ज्ञान हो अथवा अपरोक्ष ज्ञान हो दोनों कर्म के साथ समुचय प्रामाणिक नहीं है परोक्ष ज्ञान होने पर भी कर्म त्याग करके अपरोक्ष करने के लिए विविधिशा संन्यास अपरुचि ज्ञान हो गया तो आगे कर्म हो ही नहीं प्रामाणिक नहीं समुचय इसलिए तस्माद दृष्टा दृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासेयम केनिष्टम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते दृष्टा दृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य दृष्ट और अदृष्ट दृष्ट इस लोक में सुख सुख साधन अदृष्ट स्वर्ग आदि सब बाह्य साधन साध्य बाह्य अनात्म साधन से साध्य पुत्र कर्म उपासना से साध्य ये जितने हैं इसलोक पितृलोक देवलोक ये सबसे विरक्त पूरा ब्रह्मलोक तक कोई नहीं चाहिए इस लोक में भी जितने सुख ख्याति धन नहीं चाहिए विरक्त होने पर ही जिज्ञासा होती है किसी विषय में आसक्ति हो तो जिज्ञासा ही नहीं होगी ज्ञान कैसे हुआ विरक्त से जिज्ञासा प्रत्येगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कैसे प्रत्येगात्म विषया प्रत्येगात्म को विषय करने वाली ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा तो ब्रह्म ज्ञातुम इच्छा ब्रह्म जानने की इच्छा ब्रह्म जानने की जो इच्छा है वो प्रत्येगात्म विषयक ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात प्रत्येगात्मा कैसे ब्रह्म है हम ब्रह्म प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म है प्रत्येगात्मा से भिन्न नहीं ब्रह्म की जिज्ञासा है वो ब्रह्म क्या है ऐसे कठोपनिषद में एवं प्रेत विचिकित्सा कह करके अस्तित्व एक नायम अस्तिति च कहा अंत में कह दिया अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात जो आत्मा है वही ब्रह्म है धर्म अधर्म से विलक्षण है प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाली ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा अर्थात प्रत्येक आत्मा ब्रह्म एक कैसे है ये जिज्ञासा प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है ये जानने की इच्छा जिज्ञासा यम श्रुत्या प्रदर्श्यते कस्य विरक्त से जो विरक्त उसकी जिज्ञासा होती है श्रुति के द्वारा कौन सी श्रुति केन सितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते टीका मैं प्रश्न प्रतिवचन रूपेण प्रतिपादन से तात्पर्य माह इसमें पहले प्रश्न करेगा शिष्य और वो आचार्य का उपदेश है उत्तर है तो प्रश्न प्रतिवचन क्यों कहा तो उसके लिए प्रतिपादन से तात्पर्य कहते हैं आगे कहेंगे तात्पर्य प्रश्न उत्तर रूप से क्यों कहा गया प्रश्न प्रतिवचन से दे दिया भाष्य में शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथन तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारण भवति शिष्याचार्य प्रश्न और प्रतिवचन उत्तर रूप से कथन श्रुति में इसे क्यों कहते हैं सीधा ही कह देते ये चक्षु के चक्षु ब्रह्म का उपदेश कर देते शिष्य प्रश्न करेगा गुरु कहेंगे ये ज्ञान का उपदेश करना है तो प्रश्न उत्तर क्यों तो प्रश्न उत्तर रूप से कथन किया गया इसलिए सूक्ष्म वस्तु विषय कहे आत्म तत्व सुख प्रतिपत्ति कारणम सुखेन प्रतिपत्ति का कारण होगा ऐसे कथन करने पर प्रश्न उत्तर करने पर सुख से ज्ञान होगा और केवल तर्कागम्यत्वं च दर्शितम होती केवल तर्क से गम्य नहीं होता है आचार्य परंपरा से ज्ञान होता है इसको दिखाने के लिए जिस परंपरा से ज्ञान होता है उसी परंपरा को दिखाने के लिए भी प्रश्न उत्तर रूप से कहते हैं ओम आप्यायन्तु ममांगा